अल्लाह ताला की आयात में नहीं झगड़े करते मगर वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया तो उनका शहरों में चलना फिरना आपको धोखे में ना डाले